और वही है जिसने अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाएं भेजी जो बारिश की खुशखबरी लेकर आती हैं और हमने ही आसमान से पाकीज़ा पानी उतारा है